और वो उस दोजख में चीख पुकार मचाएंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें बाहर निकाल दे ताकि हम जो काम पहले किया करते थे उन्हें छोड़कर नेक अमल करें उनसे जवाब में कहा जाएगा कि भला क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिस किसी को उसमें सोचना समझना होता वो समझ लेता और तुम्हारे पास खबरदार करने वाला भी आया था अब मजा चखो क्योंकि कोई नहीं है جو ایسے ظالموں کا مددگار بنیں